श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद तीन नौ मई अठारह सौ सत्तासी कौपिन धारण बिना किए दूसरा उपाय नहीं संसार त्याग यह कहकर नरेंद्र सस्वर गाने लगे वेदांत वाक्यु भिक्षा न भिक्षान्न न चतुष्टिमंत अशोकमंत कर्णे चरंत कोपी नवंत खलु भाग्यवंत नरेंद्र फिर कह रहे हैं मनुष्य संसार में बंधा क्यों रहेगा क्यों वह माया में पड़े मनुष्य का स्वरूप क्या है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम मैं ही वह सच्चिदानंद हूँ फिर स्वर सहित नरेंद्र शंकराचार्य के स्तव पढ़ने लगे चित्ता मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानिनाहं न च्रोत्र श्रोत्रजिह्वे न च्राण नेत्रे न च भूमिर्न तेजो न वायु रूप शिवोहम शिवोहम एक दूसरा स्तव वासुदेवाष्टक भी नरेंद्र सस्वर पढ़ रहे हैं हे मधुसूदन मैं तुम्हारे शरणागत हूँ मुझ पर कृपा करके काम निद्रा पाप मोह स्त्री पुत्र का मोहजाल विषय तृष्णा इन सब से मेरा परित्राण करो और अपने पाद पद्मों में भक्ति दो ओम इति ज्ञान रूपेण जीर्णेन जीर्यत काम निद्रा प्रपन्नोस्मी त्राही माम न गतिर्विद्यते नाथ त्वमेक शरण प्रभो पंके निमग्नोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन मोहितो पुत्रदार गृहादिशो तृष्णया पीड्यमानोऽहं त्राही मां मधुसूदन भक्तिहीनं च दीनं च सुख दुःखशोकातुरं प्रभो अनाश्रयमनाथं च त्राहि मां मधुसूदन गतागतेन शान्तोऽहं दीर्घ संसार वर्तमसु ये न भूयो न गच्छामि त्राहि मधुसूदन बहुधापि मैं दृष्टं योनिद्वार पृथक पृथक गर्भवासे महदुखम त्राहि मधुसूदन तेन देव प्रपन्नोऽस्मि नारायणपरायणः जगत्संसारमोक्षार्थं त्राहि मां मधुसूदन वाचयामी यथोत्पन्नं प्रणमामि तवाग्रतः जरामरणभीतोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदन सुकृतं न कृतं किञ्चित् दुष्कृतं च कृतं मया संसारे पापपङ्केऽस्मिन् त्राहि मां मधुसूदन देहान्तरसहस्राणाम् अन्ोन्यम च मैं कर्तृत्व च मनुष्याणाम त्राहि माम मधुसूदन वाक्यन यतिज्ञात कर्मणानोपादित सोहम देवदुराचारस्त्राहि माम मधुसूदन यत्र यत्र हि जातोऽस्मि स्त्रीषु वा पुरुषेषु वा तत्र तत्राचला भक्तिस्त्राहि मां मधुसूदन मास्टर स्वगत नरेंद्र को तीव्र वैराग्य है इसलिए मठ के अन्य भाइयों की भी यही अवस्था है इन लोगों को देखते ही श्री रामकृष्ण के उन भक्तों में जो संसार में अब भी हैं कामनी कांचन त्याग की इच्छा प्रबल हो जाती है आहा इनकी यह कैसी अवस्था है दूसरे कुछ भक्तों को उन्होंने श्री रामकृष्ण ने अब भी संसार में क्यों रखा है क्या वे कोई उपाय करेंगे क्या वे तीव्र वैराग्य देंगे या संसार में ही भुलाकर रख छोड़ेंगे नरेंद्र तथा और दो एक अन्य भाई भोजन करके कलकत्ता गए नरेंद्र रात को फिर लौटेंगे नरेंद्र के घर संबंधी मुकदमे का अब भी फैसला नहीं हुआ मठ के भाइयों को नरेंद्र की अनुपस्थिति अनुपस्थिति सही नहीं होती अब सोच रहे हैं कि नरेंद्र कब लौटे